अपने परिवार के विरोधी उन्हें कहानी पहुंचाने वाले देने वाले देश में अपने परिवार में भी किसी के पास कुछ तो सुंदर होगी उनको देने में किसी को ये नहीं खिला सकते कमाना को खिला सकते उनको दे देता है वो भी सुनते परिवार का विरोध करने वाला स्वागत है तो परिवार विरोधी लंपक काम और लोग अतिक्रोधी काम और लोग में लंपक और अतिक्रोधी मैंने चाहिए और लोग हैं और उनमें जो नियंत्रण है उनमें प्रेम रखने वाले आसक्ति रखने वाले और अति लोग क्रोधी क्रोध भी बहुत मैंने वही जितने भी विकार मानसिक विकार हैं जितने भरे हुए वो सब कुछ कभी असंतवी कभी जिनमें राय देश है काम क्रोध है लोग मोह है मन मत्सर है संप्रसंग है पाखंड है दंड है क्रूरता है वैभाव है हिंसा है ये सब क्या है यही सब मानसिक विकार है और जिनमें ये मानसिक भगवान एक दो दस बीस जितने भी हैं वैसे ही वो समझो कि वो दुष्ट स्वभाव का असंत है और निशाचर है इसलिए कभी कभी उनके जो मानसिक विकार उनको भी असुर बोलते हैं निशाचर बोलते हैं जब असुरी असुर हरे जो रण बैठेंगे तो वैसे भी असुर कहना है अब इनमें जो है एक बात ध्यान देने की है जो गांधी जी ने सुझाई वो ये कहते हैं कि देखो जो दोष है उनसे भरा दोषों से दूर है लेकिन व्यक्तियों से डर मत अब विभाजन किया मैंने कोई व्यक्ति है जिसमें कि दोष है तो उस व्यक्ति विशेष से डर मत करो उसमें जो दोष है उससे दूर रहो अब कितने विदेश की बात है और संघ स्वभाव अगर संतुष्ट रखो तो कैसे रखो उसके लिए युक्त है तो जितने मनुष्य मात्र हैं दुष्ट हैं तो भी उनसे भी प्रेम रखो तो दुष्टों से प्रेम के माना ये नहीं कि उनके दोषों से प्रेम कर लो दुष्टों से प्रेम ये कि बेचारा ये भी देखो गलती से मौसम के कारण से तो इन दोषों में पड़ गया और परेशान हो रहा है दुखी हो रहा है अपने चिंता के साथ में बदले उसका भी उद्धार हो जाए ऐसे प्रेम भाव उदारता का भाव उसके साथ में रखते लेकिन उसके प्रेम के माने ये नहीं कि उसमें अगर दुर्गुण दोष है तो उनको उनको भी सीख लो उनको ग्रहण कर लो उनसे सुन रहो वो अपने में मत दो ये उपाय इस प्रकार के कहते हैं कि जो बल्ले जो है वही सब नाना प्रकार के विचारों में भरे हुए हैं तो उन विचारों के कारण से भी वो दुख गए मात्र विचार गुरु विक्रय न माने अब ऐसे लोग विश्वासी होंगे अब जिनको विचार है ही नहीं जीवन में परिणाम को समझते नहीं कि क्या करें तो क्या परिणाम होगा जैसे लोग माता ये न माता पिता को माने न गुरु मित्र को माने न मानने से माने इनका आदर नहीं करते इनकी आज्ञा को नहीं मानते वो जो शिक्षा देते हैं उसे नहीं सुनते ये सब हिस्सा है इसकी बात माता पिता कहते हैं गुरु मित्र ये सब इसकी बात कहते हैं लेकिन उनकी जाने नहीं देते उनको सुनते नहीं उनका कहना नहीं मानते उनका आदर नहीं करते कोई आदर था उनके प्रति और आप गए अयोध्या आप गए मैंने आपका तो दिमाग गई अपने तो गड्ढे में गिरेंगे आप तो डूबेंगे और भालन दूसरों को लेकर के अपने साथ लगा लो उनको भी उनको भी उसी तरह से गिराने वाले दूसरों के जहाँ उनको स्वयं पता उनका वही हुआ है सत्रता और दूसरे से खत्म कर रहे हैं तो देख रहे थे इन लोगों को भी सिखाते रहेंगे अपने जितने भी डिस्टर्ब है दूसरे लोगों को युक्तियाँ बताते रहेंगे तरीका बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ये तरीका वो तरीका दूसरे के मन में जो स्वाद आज लगे हों तो उनके मन में ये लोग भर गए गुण जो है ये तो असिकलित होते हैं लेकिन दुर्गुण जो है ये सक्सेस होते हैं दुर्गुण जो है वो अगर दुगुनी किसी के साथ बैठे तो दुर्गुण को गुण दे बोलो नदी कुछ कहो तो दुर्गुण जल्दी से आचरण करने लगते हैं किसी किसी रोगी के पास बैठो तो कोई जरूरी नहीं सोचता इन सत्संग के लिए आप कुछ न कुछ उसका जूठा उठा खाओ या कुछ और प्रकार करो कभी तो इंफेक्शन हवाई से लग जाएगा पानी से लग जाएगा किसी प्रकार के इंफेक्शन आ जाने में देर में लगती लगने किसी प्रकार के इंफेक्शन है जितने भी दोष हैं जब बहुत जल्दी लगते हैं इसलिए उनको बताओ की बड़ी जरूरत है लेकिन किसी सत्संग में जाए किसी सदगुण के पास जाए उसके पास बैठे तो फिर वो सदगुण बहुत जल्दी नहीं आते ऐसी करीब होता वो बिना बहुत आदर किए बहुत सत्कार किए बार बार उनको बुलाओ बिना अब भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये गुण अंदर आ जाए ये महीना हमारे अंदर आ जाए बहुत इस प्रकार का आग्रह करेंगे तब मुश्किल में हुआ वो जल्दी आने वाले हैं तो इनकी नस्ल दोनों किस इस प्रकार की इसलिए ये जो अपने औषों से भगवान करते इसलिए भूले सुंदर संगत कर होता है उनका जो उनके पास उनके गुण से दूर ही रह सका आप गए अब आने ये लोग जो है दूसरे की शिक्षा देंगे अपनी और दूसरे लोगों को भी कुशल बना समाज में इसीलिए देखते हैं कि ब्राह्मण बहुत जल्दी चलते हैं अच्छाइयाँ नहीं फैल पाती वैसे भी देखो अगर किसी व्यक्ति को रोज कहो दो घंटे चार घंटे रोज उपदेश चले तो देखो तुम शरीर हो तो नहीं तुम प्राण हो मन बुद्ध हो तो नहीं तुम जन के साक्षी जिसका आत्मा हो तो ध्यान जिसका आत्मा साक्षी धर्म स्वरूप हो सचिदानंद स्वरूप ये बात किसी को सजा करेगी दो मिनट बाद में और उसके बाद फिर खड़ा बहुत अच्छी शिक्षा दी और आपको बता रहे आप बना रहे तो जैसे हमको बता दिया हमको ब्रह्मानंद का स्वरूप है परमानंद का स्वरूप है और हमको सदा याद लेकिन एक दिन पहले तुमको बदले हो उसी बदल बना हो जाएगा वो और सारी जिंदगी याद रहेगा कि जैसे उसको बना उस समय माता उतने मेरी जरूरत नहीं माता को तुम करे हो करे हो तुम उसके लिए मारा तुम इस बात का दिया तुरंत मान और फिर सब जगह साहब जैसा मत बता देते हैं बता देते हैं कभी वो गलती से तुम्हें भी बोल रहा है तुम दूसरे को बोल रहा होगा तो नहीं वो तुम्हें भी बोला है समझ लेते थे तो गुण कैसे लगते हैं और सदगुण जो है कैसे मुश्किल में आते इतनी महिला हमारे हजार बार कहा कि तुम धर्म स्वरूप हो तो जरा कर दिया इसलिए जो जो जो दुर्गुण है इसीलिए बताते हैं निपक्षक है बहुत जल्दी उसका डालने वाला पत्ता पट्टा डालने वाला जल्दी छूटते नहीं तो ऐसे इनके साथ रहो कि जिस स्वयं जिस लोग अपना विनाश कर रहे हैं और दूसरे का भी विनाश ये लोग अपने साथियों का भी विनाश करते रहे और कई लोगों का सिद्धोह करावा कई लोगों का सिद्धोह करावा मोह के कारण से दूसरे से द्रोह रखते हैं व्यवसाय हर किसी से होगा उनका और संत संग हरि कथा न भावा उनको न सत्संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा अच्छी लगती है सत्संग से अच्छा लगता है जब सत्संग में जाएंगे तो फिर वहाँ पर मंदिर कथा इसी प्रकार की आ गई जिसमें दुष्टों के दुर्गुणों का वर्णन होने लगा और संतों के सदगुणों का वर्णन होने लगा तो उनको कैसा लगेगा देखो हमारा तो स्वाभाविक कुछ बोलना दूसरे को कष्ट देना परेशान होना और वही सब बातें हमको बताई जा रही है उसके बाद हमारी निंदा की जा रही है तो वो व्यक्ति सत्संग में जाकर के अपनी निंदा का प्रश्न तो सत्संग में गए तो अपनी निंदा सुनो और क्या और निंदा सुनने के माने जैसे किसी के ऊपर पत्थर फेंकना और सत्संग में बैठे तो बच्चा के पत्थर खाए सबसे मारे रहो बार बार पत्थर सही करेंगे भागो उसको कैसे सत्संग अच्छा इसलिए कहते हैं कि संघ संघ हरी कथा में भागा न सत्संग अच्छा लगता है और मैं हरि कथा भगवान की कथा जो है जहाँ भगवान के सत्य भगवान के सत्य में गुण ही होंगे अच्छे अच्छाइयाँ होंगी उन्हीं को और अगर भगवान के चरित्र में कभी किसी प्रकार से किसी कारण से कोई ऐसी बात बता दें तो हजार गुणों के भगवान को नहीं देखेंगे एक उसमें से जल्दी से घूमेंगे दुर्गुण को जैसे कार्यक्रम में जैसे जिसको उसको बताते हैं तो कहते हैं इंद्र के समय हजारों की आंखें हैं तो तुम्हें दो देखने तो ये इन्होंने भगवान राम ने दूसरे व्यक्ति है ये राम की प्रशंसा करते को छिद्र बना बना दिया सीता का परित्याग कर दिया ऐसा इसे करने भक्ति करते हैं अब देखिए ये स्वभाव स्वभाव उनके जो गुण है उनमें दिखाई नहीं देते और जो गुण भी है वो भी निर्गुण करके दिखाई देते संत संग हरि कथा ने भाया अवगुण सिंह मन मत कहानी कहते अवगुण सिंह मैंने सब दुर्गुण जितने हैं सब भरे उसके समुद्र है दुर्गुण दुर्गुण में भरे हुए हैं उनके समुद्र है मंद मन और उनके बुद्धि मंद है संजोगी नहीं आता दुर्गों किस प्रकार हानिकारक है अपना विनाश करने वाले हैं इतनी भी बुद्ध नहीं कि दुर्गों के दोष को समझ पाए और उससे दूर रहने का प्रयास करें पानी तो जैसे बताया कि काम लंबक जो है पानी वेद विदूषक और घनसानी वेद विदूषक मैंने वेदों की भी निंदा करने वाले विदूषक निंदा करने वाला नहीं निंदा तो कैसे करता हंसी उड़ा विदूषक कौन हंसी उड़ा अंग्रेजों को देखो कैसे कैसे अरे कैसे से देखो ये वेद क्या है हाँ? ये जो सब उसमें झुकी बातें उड़ाते हैं उसमें सब कहते हैं झुका बताने वाले देशों को उसके देशों की सत्यता को तो समझते नहीं अब उसमें देखेंगे जैसे कर्म का अनुष्ठान जो है और तो चारवाक क्या करता है तो देखो देशों की निंदा करने वाला चार बार दर्शन में से एक बात में चार बार वो कहता है कि घर में बैठे हुए आपके माता पिता सबसे पर भंडे रहते हैं आप उनको खाना देने के लिए खाना नीचे बनाए खाने और वहीं उनको कह दो पिताजी को ये भोजन प्राप्त हो जाए ऊपर देने मिला तो मिल जाएगा जब एक समय आपको वहां ले सकता है कर करके भोजन नहीं जा सकता के संकल्प से अगर सर्व में बात कर रहे हैं सब लोग बात कर रहे हैं तो आपको अरे ये तो को बता दिया दूसरा चक्र प्रकार से उनको कभी को निकाल करके नाना तो, तो समझ रहे हैं इसी प्रकार के वेद विदेश इसी प्रकार के विदूषकों में से तो तो कुछ और संप्रदाय इस प्रकार के हैं जो वेद विरोधी हैं वो भी इस प्रकार के निंदा वेदों तो की निंदा करते हैं विदूषक के और दूसरे से धन को हरण नहीं किया लेकिन दूसरे के धन को अपना धन बताते दूसरे के धन को कहीं किसी को इस किसी में यहाँ कोई मुनिम है तो मुनिम क्या बोलेगा मेरा तो लाखों का रोज कर लेना बना है हाँ, महीने में मिलने वाले सौ पचास रुपए उसको हाँ, मेरा तो लाखों को रोज कर लेना देना लाखों का सेट का लेना देना तो हमारा लेना देना रोज का कलम से मात्रा जो है तुम्हें उसको लिख दिए लेकिन उसके भी स्वामी बने अपने आप को दिखाते हैं कि लाखों का लेना देना लगभग लोग समझे अच्छा बड़ा व्यापारी होगा कोई बड़ा भारी व्यक्ति होगा जब पता लगा तो ऐसे द्रोह और द्रोह में सबसे विशेष द्रोह कोई है तो द्रोह है और इस द्रोह पर जैसे लगता है दूसरे से द्रोह अग्रोही कहलाता है लेकिन यहाँ सुसंधान देखते हैं तो पक्ष मैंने परमात्मा विश्व और परमात्मा ये लोगों के इनके दुश्मन है क्योंकि यही इनके जो है इनके दुर्गों को दुर्गो बोलते हैं यही की जो है इनकी दुर्बलता है कमजोरियां जो है यही ज्यादातर तो मित्र लोग ये शास्त्रों का अध्ययन करने वाले वेदों का अध्ययन करने वाले और नीति अनीत का निरूपण करने वाले धर्म धर्म बताने वाले तो ऐसे लोगों से तो बहुत जरूरत कि जो धर्मकरण की व्याख्या करने लगे नी अनित की व्याख्या करने लगे संत संतों का विभाजन करने लगे वो तो बहुत बड़ा तो असंत जो शिष्य हों उनके देश के लिए चली चले इसलिए वो जो है वो हमसे जरूर करते हैं और परमात्मा से भी परमात्मा से क्यों करो शास्त्र में कहते हैं और भगवान की गीता में ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के मंत्र होंगे कुछ लोग होंगे इनको हम बार बार नरक में डालेंगे तो जो भगवान नरक में डालने वाला है उससे भरा कोई प्रेम कैसे कर सकता भगवान को मानेंगे भगवान है ही काम ऐसा नहीं सकता था जैसे सब लोगों ने जो है अपने अपने पेश कराने के लिए पेट भरने के लिए परमात्मा की एक ईश्वर की कल्पना कर लिए लोगों को डराने के लिए धमकाने के लिए अपना काम चलाने के लिए चालाक लोगों ने परमात्मा बना रखा है लेकिन परमात्मा है सब ऐसे करते हुए हो अपने लेकिन इस प्रकार के करने से कोई बचत थोड़े हो जाती है परमात्मा को ऐसा थोड़े सत्य है जिसको परमात्मा को न स्वीकार करो तो उसकी सत्ता समाप्त होगी वो तो असल होकर के समान विद्यमान सही है जो लोग इस प्रकार के परमात्मा को नहीं मानते क्या वो उन्हें मर नहीं जाना पड़ेगा क्या उन्हें अपने अपने दुष्कर्मों का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा वो तो प्राकृतिक नियम है वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा और भोगते हैं अपने इसी जीवन में भोगते हैं अगले जीवन में जो उनको भोगना पड़ता है न वो अपने आप को बचा पाते हैं न कोई दूसरा उनको बचा पाता है परमात्मा को तैयार तो करते करके तो नहीं है जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं काल बंदर साहू ने मारा ऐसे तो है नहीं कि भगवान आप झंडा लेकर के आ जाएंगे तो, तो देखो तुमने बहुत पाप किए और हम तुमको हम मारेंगे ऐसे तो करते नहीं वो तो सबसे हृदय में बैठे हुए भीतर भीतर प्राकृतिक नियम का उठार करना उठार भगवान का यही दंड है कि व्यक्ति के हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वो भगवान का दंड है पहले उत्पन्न करेगा उसके भीतर उसके अपने हृदय में भी परिणाम होंगे और उसके कारण जो दुख उत्पन्न होगा उसके हृदय में वो दुख क्या है वो परमात्मा का दंड गदा का उनके सबसे गदा का नहीं भगवान के पास तो गदा क्या है जब इसलिए मारे जाते मार दो तो लोग कुछ में आ जाए गलती दोबारा न करें ये स्वयं गदा रखते हैं और वो गदा कम करके जब किसी को लगता है तो भगवान में जो दुख उत्पन्न होता है भगवान की गदा का प्रहार है वही दुख है उसका तो जब तक आदत है व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए तो हमें क्या ऐसी गलती थी जिसके कारण दुख अनुभव कर रहे हैं जो भगवान ने दुख रूपी दंड हमको दिया दुख को घटनाओं से नहीं जोड़ो माल जगत की घटनाएं जो होती है वो तो अपने अपने प्रकृति के नियम से जहां जैसी हो रही तैसे होती है लेकिन उनके घटनाओं के घटने के साथ जब हम अपने मन बुद्धि को उन्हीं के साथ जोड़ लेते हैं और फिर दुखी सुखी होने लगते हैं ये सब बच्चे के अपने स्वास्थ्य कर्मों का फल तो व्यक्ति जब दुखी है तो इसके मैंने उसने कार्य किया है उसका दंड प्रसन्न है उसके मैंने अच्छा कार्य किया है उसका पुरस्कार दंड और पुरस्कार सुख और दुख रूप में परमात्मा देता रहता है अब ऐसे व्यक्ति के दुष्ट स्वभाव को देखते हैं उनको कभी दुख नहीं होता है स्वास्थ्य बने रहते हैं तो ब्रह्मांड भी लोग तरह भाई कभी उनको दुख होता नहीं है इसलिए परमात्मा जैसा कुछ नहीं लेकिन वे लोग चाहे वो हो तो बहुत दुखी होते हैं बहुत दुखी होते अब जैसे चोर है चोरी करता है तो वो अपने बहुत चालाकी से चोरी करेंगे बचाव करने चल जाएगा पकड़ने में चल पाएगा लेकिन सौ बार चोरी करो एक बार कहीं कहीं पकड़ जाए और जब एक बार पकड़ जाए तो उसे इतना मारते हैं इतना मारते हैं कि उसका हाल बेहाल हो जाता है शरीर सूख जाता है एक बार एक चोर को देखा बहुत मार पड़ी सब मुंह काला कर गया मारते मारते उसका मुंह काला कर गया सूख गया अब इस प्रकार से जब होते हुए घटनाएं घटती है तो प्रसन्न करो कि तो उनके दुख की दशा है अब होती है तो कहो कि अब परमात्मा नहीं है तो नहीं परमात्मा जो हो जाएगा हाँ? जब इस प्रकार के दुष्कर्म होंगे तो कहीं ना कहीं तो आकर के सजा करने को मिलेगी सत्सनाथ की एक व्यवहार की बार बार वो करता रहा चोरी तो करते करते इस बार कहीं ना कहीं पकड़ा गया सब निकल गया उसका कारण जीवन का सबूत कारण कैसे करते हैं जीवन वो पर ध्रोह पर ध्रुव विशेषी क्रोध से विद्रोह करते हैं जिस से द्रोह से तात्पर्य तो धर्म का विरोध करते हैं विद्रोह धर्म की शिक्षा देने वाले जो क्या धर्म है क्या धर्म है क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है इसकी शिक्षा देने वाले हैं तो उनसे द्रोह रखते हैं और परमात्मा जो कर्म का फल देने वाले हैं सेवा से कर्मों का फल देने वाला है उससे भी द्रोह रखते हैं और धन तपत हुए धरे से देखा है और फिर वो धन तपत अपने हृदय से हृदय में दम और कपट है और भरे सुरेशा और ऊपर से बड़ा सुंदर देश धारण किए मैंने कपट स्वभाव बनाना है हृदय में तो ये किसको कैसे खड़े लें किसको कैसे धोखा दे दें किसको कैसे अपना कारण काल में सिद्ध कर लें ये तो सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं अपने हृदय में और ऊपर से जैसे ऊपर से थे खाना खाए हृदय का थोड़ा तो ऐसे करके अपने हृदय में उनके कर्तन भर कटक लेकिन उनका से भरे स्वदेशा स्वदेश धारण किए और प्रिय वचन बोलने वाले स्वदेश धारण करने वाले अब जितने चोर कर रहे हैं चोर हैं तो विशेष रूप से हालांकि उनकी कोई व्यवसाय नहीं धंधा नहीं लेकिन इनको उनके पास जो है वो हो दरिद्री जीवन उनका लेकिन अपने आप को कैसे दिखाएंगे जैसे कि समाज के विशेष संपन्न व्यक्ति होंगे जैसे वो रहते होंगे उसे साधारण में गले में ताली वाली बांध करके निकले जब देख करके कोई देखा अरे साहब ये तो कोई बहुत बड़ा लिखा आदमी मालूम पड़ता है कोई बड़ा इंडस्ट्रीज मालूम पड़ता है इस प्रकार के कई कई सूट वूट पहने और एक बड़ा दस दिए हुए हाथ में ऐसे करके दिखाई देगा और बाद में देखा जैसे उन्हें कहा दर्द जीवन जो है सब देखे ही उन्होंने सब इस प्रकार से जो घटनाएं घटती कैसे कैसे समाज में लोग होते हैं क्या क्या करते हैं तो दम में कपट दिए श्रेष्ठ देखा ऐसे अपने मन दिखल तस्वीर भगवान कहते हैं गीता के वर्णन किया तो देखो चार काम है चार युग है सतयुग है त्रेता है द्वापर है कलयुग है तो सतयुग में और त्रेता में तो हैं प्रकार के व्यक्ति त्रेता का क्योंकि त्रेता में जो होते थे त्रेता ने देखा कि भगवान किसको मार करके आए को मार करके आए त्रेता में जो हो लेकिन श्रेता में जब होते हैं तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं उनको होने नहीं देते बढ़ने नहीं देते उनका विनाश कर देते चाहे मार दिया जाए उसके बाद में श्रेता युग में अपनी खत्म हो गए भगवान ने प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी हम शास्त्रों से विलीन कर रहे हैं शास्त्रों से भी चाहिए दी लेकिन कितने कर दिए उसके बाद भगवान का दस हजार वर्ष तक कितने हजार वर्ष तक उनका राज्य चला कोई साक्षर निशाचर त्रेता युग जब तक चला तब तक कोई साक्षर साक्षर नहीं सब पैदा हुआ तो त्रेता युग में भी नहीं साक्षर और दुष्ट स्वभाव के दुख नहीं होते लेकिन जब व्यापार नहीं हुआ तो थोड़े थोड़े होते जनता में से साधारण लोगों में से ही चोर बदमाश इस प्रकार के स्वास्थ्य जब कहीं पैदा हुए राजा जो हो गए जरा पंडित किया राज्य किसका वहाँ का राजा जो वो ये तमाम इस प्रकार के राजा उस समय भारतवर्ष में हुए और वो सब निशाचरी स्वभाव के दुष्ट स्वभाव के तमाम हो गए तो देखते हैं कि व्यापार में राजा तक होने लगे लेकिन फिर भी अधिकांश लोग जो वो हो धर्म परायण साधु संत उसी प्रकार के थे बहुत अधिक जाकर में इस प्रकार के पुष्पों का फलों का विस्तार फैला नहीं हुआ तो संख्या नहीं बढ़ी थी लेकिन जब कभी जाया तो जाकर कशुक दंड बट रूप ही कभी जगह में भगवान का तो कलयुग आया तो बहुत हो जाए आप जहाँ चाहे वहां देख लो आपको संत स्वभाव वाले को तो ढूंढे नहीं मिलेंगे जहाँ वहाँ शहरों शहरों में ढूंढेंगे तो बिजला कभी विकास मिलेगा लेकिन आप जहाँ चाहे वहाँ एक दूसरों पर संतों को सब जगह देख लो बहुमत हो जाएगा फिर ऐसे असंतों के बढ़ने में अगर कोई अवसर होगा तो किसका जीत जा रहा है वो अपने के साथ व्यक्ति को जिता करके वोट दे करके उसे नेता बना ये पता कर रहा हूँ कि कभी उन्हें ऐसे ही होगा भविष्य में वैसे ही हो रहा है बहुत अधिक संख्या में वो पचास लाख शिक्षक तो अधिक नहीं तो नब्बे शिक्षक इस प्रकार की स्थिति हो गई समाज में धंधे से लिए कभी कोई व्यक्ति का सुधार कर संतों की बात खत्म हो गई अब इसके बाद भगवान को अब इसको दोनों प्रकार के लक्षणों को बताने के बाद में हम निर्णय देते हैं भगवान अपना